प्रभु बलोकि न डारी थकित भीरजनीचर धारि सचिव बोले खर दूषण यह को भूषण लूषणय यसुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते हम भर जन्म सुनहु सब भाए देखे नहीं ऐसे सुंदरताए सौंदर्य और माधुरी निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं पर हे सब भाइयों सुनो हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी यद्यपि भगिनी कुरूपां बधलायक बदलायक कनहि पुरुषयनुपा तुरत निज नारी दुराये जियत जाहु दौ भाई मोर कहा तुम ताहि सुनावहु तासु बचन सुनि आतुरयावहु दूतन कहा राम सन जाए सुनत राम बो ले मुस्काए यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं हैं छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले हम क्षत्रि यावन करहीं तुम से खल मृग खोजत मृगोजरहि रिपु एक बार देखि का लहुसन लहुसनलीन् यद्यपि मनुज कुल घालक मणिपालक खल सालक बालक जौन हो ये बल घर फिर जाहू समर विमुख मैं हतऊ न काहू हम छत्री हैं वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं हम बालक हैं परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले यदि बल न हो तो घर घर लौट जाओ संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता रन चढ़ करिय कपट चतुराए रिपु पर कृपाए परम कदराए दूतन जाए तुरत सब कहे वो सुनिखर दूषण उरयति दहेब उर दहे के धरहु धाये विकट भट रजनी चरा सरचाप तोमर सूल कृपा सुधरा प्रभु किन्न धनुकोर प्रथम कठोर घोर भयावाहा भयबिर व्याकुल जातु धानन ज्ञान तहि रहा रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना। और शत्रु पर कृपा करना दया दिखाना तो बड़ी भाई कायरता है दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा खरदूषण का हृदय जल उठा तब उन्होंने कहा पकड़ लो कैद कर लो यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग सूल बर्छी कृपाण कटार परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा सावधान हुई धाय जान सबल आराती लगे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभाति तिनके आयुध तिल सम करिकाटे रघुबीर तान सरासन श्रवण लगे पुन छाड़े निज तीर फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े